तत्राहमतो भवान परमकम परमकम ज्योतिस्तस्मि प्रभो ज्योतिस्तस्मि प्रभो किं ज्योतिस्तभा चंचलता निवृत्थम भूमात्राधिक्यम भूमात्रा आधिक्यम कथम भूमात्राधिक्यम पूर्णतया शमनार्थम पूर्णतया शमनार्थम यो मात्राधिक्यम मैं

श्रुति चंचलता निवृत्थम पूर्णतया शमनार्थम मात्राधिक्यम खर्व मात्रा जो परिवार है वो समस्त भूतों को अर्थात अव्यक्ता समस्त को स्थानांत पर्यत जो कुछ भी है उन सब को आत्म एवं अनुपश्यति अपने निधि ही देखता है पर जो आत्मा में देखता है आत्म व्यतिरिक्ता न पश्यती आत्मा से भिन्न रूप है उनको नहीं देखता ऐसा उसको इंद्रियों को भान भरी होता है मेरे से अलग है लेकिन निश्चय मतलब ये होता है कि मेरा आत्मस्वरूप नहीं है सब कल्पित सर्वभूतेश आत्मान सर्वभूतेश जिनको पहले आप आत्मा में देखे थे उनमें ही आप क्या देखने जा रहे हैं कहते हैं कि भाई उनमें आत्मा क्या मैं आधार आगे भाव से देखेंगे आप भूतों में आत्मा और एक से लेकर स्थावर परिंद सकल भूतों में आत्मा को आप देखेंगे क्या आधार आधे भाव से देखेंगे प्राय शरीर के अंदर परमाणु रूपेण अणु रूपेण तो मध्यम परिमाण रूपेण विद्यमान आत्मा है ऐसा मान के देखोगे राय स्पष्ट करते हैं इसीलिए ऐसा मन देवता नाम स्व आत्मा मातत्व कार्यक्रम संघात से आत्मा हम सर्व प्रत्य साक्षी भूता चेतता केवल निर्भय अनिर्वत होते न अव्यक्ता निरंतराम अवयव आत्मा ऐसा वो देख रहा है सभी में आत्मा को सभी के अंदर और सदर भूतों के अंदर स्वयं आत्मा आत्मपूर्ण अपनी ही आत्मा को सभी में विद्यमान आत्मा रूप अनुभव करता है अर्थात यथा अस्वीय जिस प्रकार इस शरीर के अंदर मैं विराजमान होकर इसके अंदर सभी आरोपित अध्यापित कर्तृत्व भोक्तृत्व कर सदन व्यवहारों को करते रहता हूँ उसी प्रकार मैं ही इन सकल शरीरों के अंदर अहम वैश्वान पुत्रा भगवान चतुर्भुज भगवान कहते हैं मैं ही सभी के अंदर वैश्वान बनकर आज जिले की खाऊंगा मेरे शरीर में इसी भगवान से इसी शरीर में डालू जिलेबी को नहीं तो सदन उपायों के माध्यम से तो मैं तो खाने वाला हूँ तो दूसरा है का तो इसलिए आपत्ति क्या है इसलिए कहते यहाँ पर भी होता यदा अस्सी देह से कार्य कर्ण संघात से आत्मा अहम सर्व प्रत्यय साक्षी क्रिया इसी शरीर जो कार्य भूत संघात है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूपा संघात है इस संघात के अंदर जिस प्रकार से मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करता हूँ और इस कार्यक्रम संघात जिन सकल प्रकार के वृत्ति ज्ञानों का मैं साक्षी रूप में विद्यमान हूँ चेतता और सभी प्रकार की चेष्टाओं का प्रवर्तक भी हो नियंत्रक भी हो नियामक भी हो केवल हो लेकिन यह सब सोपाधि को लेकर के कहा वास्तव में क्या हूँ केवल हूँ निर्भर हूँ इस स्वरूप के द्वारा अव्यक्त स्थावरान सभी के अंदर मैं ही आत्मा हूँ इस प्रकार के अनुभव करता है इसलिए सर्वनिर्देशिका आत्मान निर्विशेषम यत्व जो अनुपश्य याद अनु कहा वचन सुन करके ऐसा विचार करने वाले को नहीं ईशावासी इत्यादि मंत्र का सम्यक प्रकार से श्रवण करके मनन योगाव निध्यासन द्वारा इस प्रकार का अनुभव अनुपश्यति इसलिए अनु जो है मंत्र का अनुपश्यति स परिव्राट तादृश मुमुक्ष तथा तस्माद दर्शनाथ तादृश सर्वात्म दर्शन इसको कहते हैं सार्वात्म दर्शन सभी के अंदर स्व को आत्मरूपेण अनुभव करना तार सार्वात्म दर्शनाथ निजुगुप्साम घृणाम न करोती और किसी भी शरीर से घृणा नहीं करते ने छुआ छूट गया दारा किया कुछ भी अत्यंत मलिनो देहो अत्यंत निलंबन शौचम इसका शुद्ध परिधान शरीर ऐसा है देह अत्यंत मलिन इस बार लाभ साबुन लगा चुके होंगे बचपन से अभी तक आज इसकी दुर्गंध आप के लिए सकते बार सौ के सुंदर प्रक्षालन नहीं कर दिया पूर्व सुंदर प्रक्षालन कर दिया मीठा पानी पिया वैसे भी हो गया कौन सूर्य प्रक्षालन योग क्रिया है और क्या बाबू को मल कौन शुद्ध केवल मन मान गया नहा लिया तो हम शुद्ध मन का मान अत्यंत मलिनो हो और देही वैसा है अत्यंत हाँ, अत्यंत तो प्रश्न ही अत्यंत हाँ, शुद्ध है ये अत्यंत अशुद्ध अब किसको शुद्धि करना है तो ज्ञाता इन दोनों का भेद को जिसने जान लिया ऐसे व्यक्ति के प्रति कर्म सोच तो, तथा शरीर का शौच का विधान कर लिया या आत्मा के शौच का विधान शरीर के लिए विधान करने व्यर्थ शुद्धित्व मतमला और आत्मा के लिए विधान करना व्यर्थ तो अशुद्धत्व अतएव शुद्धि अशुद्धि उन मूर्खों के लिए है जो शरीर को आत्मा मान रहे हैं और आत्मा को शरीर यह ज्ञानी के लिए कारण है विधि जीव मुक्ति की विधि जो सर्वात्म दर्शन करता है छुआ छुआछूत नहीं है उसको शूद्र का दर्शन विषय के कहीं भी खा लेती है कोई कहीं से यही है कि भाई आत्मा और परमात्मा ही अभिन तेरा खा रहा मैं तो खाई खाऊ मैं खाने वाला हूँ भावना आगे फिर गया फिर तो अज्ञानी को टीम में फिर सारा विधि विधान लागू हो जाएगा ये मान के चल रहा वैश्वर अग्नि रूप में परमात्मा ही सकल शरीर के अंदर विद्यमान रहकर खाता पीता है इसलिए हम तो खाते पीते हैं ही नहीं ये तो अभ्यास ये भ्रांति है वास्तव में हम लोग संसार है ऐसा जितने दृढ़ निश्चय है वो कहीं भी बैठे कहीं भी खाए कुछ भी करे कोई वही वास्तविक स्मृति ब्रह्मनिष्ठ का तो बुद्ध दर्शन जो करेगा उसके अंदर किसी के प्रति भी किसी भी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं होती प्राप्त सेवा नियमन समझो तो विधि है क्योंकि यहाँ पर हम एक कह सकते हैं यह सर्वाणी भूतानी विजुगुप्त निवृत्ति काम स ब्रह्म विद्या अधिगछे जो व्यक्ति विजुगुप्सा की निवृत्ति चाहता है वह व्यक्ति ब्रह्म विद्या का श्रवण करे दर्श महाराज ध्यान काम हो ब्रह्म विद्या निवृत्ति काम हो श्रेया तो कहेगा फिर विधि हो गया विधि का जो विषय होता विधेय है तो विधेय है तो निश्चित कर्म कोटि में चला जाएगा तो सिद्धांत कहता है नहीं ये प्राप्त का ही अनुमान है जैसे मुझे टिप्पणी कार दिए है देखिए इसके ऊपर टिप्पण है पांच सुंदर टिप्पण है मैंने वो यथा ये प्रतिष्ठा रात्रि रात्रि सुख विधिच्य तो तथा कामो दिशा आत्मदर्शन कुरियाद है तथा इत्यादि मंत्र कर्म सु अवनियुक्ता ऐसी जब पहले प्रतिज्ञा है असंगतम भाषितम बिल्कुल असंगत भाषित वास्तविक कर्म से छूट गया उनका ऐसे बन गया विजय से कर्म प्रणाया क्योंकि तो जो कुछ विजय है तो निश्चित कर्म होगा ही इसलिए काम वृद्धि आरेका मैंने शंका आशंका आरेका मैंने आशंका निर्णधि निवारती प्राप्त शिव अनुवादो इस बात को मैंने निरत करके भाष्यकर लिखा पर्याप्त अनुमान कर रहा है शुद्धि ये जो विधि स्वतंत्र विधि नहीं है अपनी विधि नहीं है यदा अग्नौ हिम निवर्तकत्व जगह यदा अग्नौ हिम निवर्तक लोक तक प्राप्त यद्यपि अग्नि में जो है ना हिम की निवर्तक लोक से प्राप्त है और वे मिलेगा अग्निर्वय मत्स्य अग्नि जो है हिम का भेषज ठंडी की दवाई है और यहां भी अपने कल्पना कर सकते हैं विधि क्या हिमनिवृत्ति का वो अग्रिम प्रज्वाले हिमनिवृत्ति कामना वाला अग्नि को जलाना चाहिए हम करते हैं फिर क्या उसको विधि मानोगे लोक सिद्ध को अनुवाद के श्रुति ने अर्थवाद किया और उस अर्थवाद के आधार पर आपने विधि की कल्पना कर दी तो आपका कल्पित विधि अपूर्व विधि नहीं हो सकती इसलिए कहते हैं कल्प्यमानो विधि न कल्पते तद्वत निमित्तापाय निमित्तापाय से लोकत प्राप्त तदनुवादे अत्र विधि गंधो न जिघ्रासित कर्म कांड साधुत्व विषय मंत्रा न कर्म सूर्य इसलिए भाष्य कर्म पहले वो प्रतिज्ञा करें तो बिल्कुल सूर्य है ईशा मंत्र कर्म गुरु नहीं हो सकते एक प्रकार का है रात्र सूत्र में न्याय का दृष्टान कहना चाह रहा है लेकिन उसको भी हम खंडन कर देते हैं यहाँ पर हिमस विजयम अग्नि हिमस विजयम के समान प्राप्त अनुवाद कल्पित विधि है अकेले अपूर्ण विधि नहीं सर्व ही गणा आत्मन्य दुष्टम पश्चितो भगवती आत्मान एवं अत्यंत विशुद्ध निरंतरम पश्यतो न घड़ा निमित्तम अर्थांतरम प्राप्त प्राप्ति को बता रहे कैसे प्राप्त क्योंकि आदमी जो है किसी के प्रति या किसी भी वस्तु के प्रति घृणा क्यों करता है वो अपने से फिर समझ रहा है शौच करते हैं लघुसंज्ञा करते अब ये तो फिर मान रहे हैं शौच इसलिए गंदा चीज अपने से फिर मानते लघुसंज्ञा को गंदा चीज आध्यात्मिक घृणा जो आज अरब प्रति बना हुआ है संत की कृपा से एक संत के पुरानी वो जगह है राजस्थान पकौड़ी पकौड़ा था पकौड़ी छानते शब्द खेल बना अपना परमात्मा को रोज पकड़ दिया कृपा दृष्टि की तो उसने दुकान दिया दुकान में करके जो है वहाँ नमकीन उनकीन सब छाने लगा और तो दिवाली के अवसर में बढ़िया फर्स्ट क्लास चीजें और नमकीन कटोरी कई तो कभी महाराज आपको तो कभी कोई प्रसाद देते हैं इसलिए से कोई क्या हाथ लगा सोच के कोई सोच नहीं साधना है जैसे कि बोला जब संत है कहीं ना क्या किसी की वजह से बड़ी श्रद्धा से कुछ पुस्तक सिखा रहा है तो लोग दो चार दिन के बाद फिर आया फिर मांगा फिर फिर एक मिला तीसरी बार जब मांगा हो तब का खड़े महात्मा जी देखो हमारे जब पूछा है इतनी समर्पित उनकी सेवा करते हम कृपा करते हैं पहली बार हमने प्रसाद की तुमने फेंक दिया गौ ने खा लिया कुत्ता को खा लिया दूसरी बार तुमने फेंक दी कुत्ता ने खाया कुत्ता ने पेड़ उसमें कृपा सबको बधा है तो नहीं अकल है तो समझ छिपा गया क्या बात है चला बिल्कुल करेगी हरा हाथ के परिवार बनाए या करते घंटे में नहीं फर्क नहीं तो बड़ा अनमनाफा जो है बड़े दूर जाके खड़ा हुआ धीरे धीरे युवक वर्ग के पास नाने लगा

अपनी पंक्ति संख्या समूह नहीं एक मकान पुराना पंक्ति लेना तुम्हारा प्रतिबंध दूसरी जगह गया तो चले तो घृणा कहाँ होती है भेद बुद्धि श्रद्धा निष्ठा है नहीं है उसमें कहते हैं नहीं घृणा आत्मा अन्य दुष्ट आत्मा से भिन्न और ये दूषित है मैं ही शुद्ध हूँ मैं ही सही हूँ वैसे सब गलत ऐसे जो माना होना तब घृणा आत्मा आत्मानंदेव अत्यंत विशुद्धम आत्मा को ही अत्यंत शुद्ध मानता है उससे भिन्न को जो है दुष्ट मानता है उसमें क्यों निरंतर पश्यता और यदि उसको निरंतर अत्यंत शुद्ध और निरंतर है ऐसा देखता है अविच्छिन्न है वो मैं अलग हूं मेरे से अलग तो हो गया है तो विच्छिन्न है ना वहां पर अपने से अलग हो गया नहीं विच्छिन्न हो गया निरंतर नहीं रहा निरंतर तो मेरे लिए आत्मा है आपका सर्वत्र है तो निरंतर सर्वत्र व्यापक है तो सभी है व्यापकता तो निरंतरिता सर्वत्र वही आत्मा फैला हुआ दिखेगा तो शौच में की दिखेगा लघुशोभा में की दिखेगा सुगर में की गलत शूद्र में वही दिखेगा वही विच्छेद जो हुआ वहां भेद कहीं आपने अवधि मान लिया है ये हमारा है और उसके बाद ये परा तो वहां जहाँ अवधि हो गया विच्छेद हो गया वो भेद है जहाँ भेद है वहां निराश पानी का निरंतर है विच्छेद नहीं है अविच्छेद सर्वता व्यापक है ऐसे में अनुभव करोगे न घृणा निमित्त अर्थांतर घृणा का जो निमित्त है वह अर्थांतर भेद वस्तुअंतर वो है नहीं इसी प्राप्त यह जवाब सर्वतः प्राप्त है इसी को अनुदान करने श्रुति में सर्वार्थ दर्शन करने के लिए कहा कदम इत्यादि घृणा का अर्थात कर्म अर्थात से सिद्ध है अर्थापत्य से यह बात गलत लेना मुश्किल होता है जो अर्थात जो स्वतः प्राप्त है वो दृष्टान बहुत सुंदर है भोपाल की घटना है भोपाल में घटना घटी अगर गुरु के ऐसे में भगत नहीं आज पुरुष में देवघर था ब्राह्मण के घर थे और इनके इनके घरों पर लिखा हो गया उसके बाद इनके घर में हमेशा लड़ाई की हुई और माता पिताओं ने आपस में निर्णय कर लिया कि हम आपकी लड़की को शादी वो कर लीजिए कोई लड़की जमा माध्यम वोटिंग तय कर लिया गया कोई लड़का लड़की को पता नहीं अब ये मेरे भाई बहन बन कर बड़ा सही से खेलता है राजनीति मांगे जैसे लेकिन आपको रसम है सब खेलना कूदना बचपन में से चलता होते होते होते लड़की बड़ी हो गई तो बताया उसके लड़का इसके हो गया तब जो शादी करने की बात थी और तो लड़की को तो मालूम नहीं था जिससे मैं आज तक खेल रही हूँ कल तक तुम सवेरे चल ली जिस जगह उठा बैठा छीना झपटी करके चाय पानी नाश्ता खाया वही मेरा सत्य समान अब उसको जो है मान है बता देखो तुम्हारी शादी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं बच्चे कुछ लड़का जब बच्चा खेल रहे इस तरह से वेदांत सुनते उसको शांत इसके बाद उसी क्षण उसके दिमाग में आ गया उसका अंदर के संतोष था ये संतोष में बस कभी मैं उठना न बैठना न अगर का आवे तो छिप जाए तो नहीं तो कहे उसमें तुम हम देगी बुद्धि कहा गई और माता पिता से कुछ बोले नहीं कहते अगर माता पिता से पूछे जब एक दिन ये सभी हाँ अरे होने वाले कुछ जीव खाते हैं तुम अपने माता पिता से पूछ कहा गई ले गया अपने घर को पूछा तो करते हो होते तकलीफ होने वाली है अभी तो होने है सुधारी होगी इसलिए ऐसा मस्जिद को आपके लिए हमने दिया ये दिन गए अब तुम तो करती है तकलीफ भावना पर दिल कितना फर्क पहला एक भाव था तो ये भाव ही भाव नहीं था और बाद में दिमाग में आ गया अरे ये तो वो है हम ये हैं तो तो इसी प्रकार यहाँ पर जब तक अभेदभाव है तब तक सब कुछ ठीक जहाँ भेदभाव आ यहाँ सारे अभेदभाव में ऐसा का ना लड़का का नई लड़की थी पूरा प्रेम का खूब इसी तरह यहाँ पर जब सर्वात्म भाव दे देंगे तो बड़ा आनंद है जहाँ भेदभाव आ गया फिर वो समस्या हो जाएगा आसन ले जाने अलग चाहिए नमक पार्वती करने अलग चाहिए सब चाहिए समस्या अच्छा है जो तुम ये समझ गए हम अमुख हैं और ये सब ऐसे हैं तो सब तो फिर समस्या हो जाती है व्यवस्था करनी पड़ती है ये चक्कर दूसरे बात है ये वास्तव प्राप्त का ही अनुवाद है तत्व में विचित्र दूसरे हम्म। जो कठोर में भी होता है ये फलादेश नहीं है यह प्राप्त अनुवाद हम कभी इमन अन्य मंत्र मंत्राहा इसी अर्थ को दूसरा भी मंत्र और कह रहा है क्योंकि जानता नहीं पहले कर चुके थे जैसे आपको स्वरूप कथन दो मंत्रों से किया गया उसी प्रकार से ये जो फलादेश है यह स्वरूप कथन ये भी दो मंत्रों से कहा गया सर्वाणी भूतानी आत्मवा भूत यस्मिन का जो अर्थ तो लेते भाषिका जिस काल में अथवा जिस आत्मा में जिज्ञासु की अथवा श्रद्धि जिस आत्मा में सर्वानुभूतानी आते हो सकल भूत आत्मा ही हो जाते उन्हें आत्मा स्व से अभिन्न होगा भूत नाम का चीज नहीं रह गया जो है तो वही है वही दिखाई देता है नाम रूप कर्म जो है भ्रांति कर स्पष्ट भाषित हो जैसे पहले आपने रस्सी में सांप को देखा था बाद आपने रस्सी जान लिया जानने के बाद उसमें सांप दिखाई दे रहा है तो क्या वो सांप आपके लिए यथार्थ रहेगा भय का कारण बनेगा कभी नहीं जब तक वो सर्व में सत्य तो तब तक ही भया जहाँ सत्य तो खत्म हो गया अच्छा बाहर भय दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो भय का कारण नहीं इसी प्रकार यह भेदात्म जगत जो आपके राग द्वेश मोह जन मरण में कारण था जिसे सब कुछ मेरा आत्मा ही है मेरा आत्मा सगुण है ऐसा निश्चय कर लोगे तथा को महा कहा शोक वहां मोह कैसे होगा शोक कैसे होगा विवेकत्व विवेकत्व का यहाँ भी पुनः ने जोड़ दिया है अनु की बहुत बड़ी महिला है गुरु मुख्य श्रवण अनु प्रमेय मन विद्यास द्वारा यह पश्चिम सा एक कहा वो है तस्य प्रति तस्य प्रतिया शुरू करेंगे यथोपात विवाह यत्र का जो कर रहे हैं यस्मिन का यस्मिन रे अथवा यथोपात विवाह इसमें क्यों लेना चाहते भाषिका सीधा आत्मा क्यों लेते जिस आत्मा में सब भूतों को आत्मा करके मान लिया जा रहा है तो इसलिए कहते हैं कि ये है आपने शुरू कर दिया है छह मन क्या हुआ लेकिन परेशान देवदार को पकड़ में आ हम तो तो। कुछ नहीं आप कुछ नहीं कुछ वैसे ही ये बच्चे की तो अज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ा है शब्द ज्ञान मात्र हुआ ना इसलिए अज्ञान में फर्क कहा बल्कि शब्द ज्ञान करें वो अध्ययन और मजबूत हो जाए तो ज्ञान समझ गए अहंकार शुद्ध ज्ञान से तो अहंकार बड़े तो इसीलिए कहते तो जस्मिन काल है जिस काल में अच्छे होगा क्योंकि बहुत गहन चीज है सुनते सुनते बारंबार सुनोगे बारंबार मनन करोगे रगड़ते रगड़ते रगड़ते पुस्तक का कीड़ा बनते बनते बनते पुस्तक बन जाओगे तो जिस दिन पुस्तक बनोगे उस दिन इसलिए लक्ष्मी काले खाना जरूरत अभी तो पुस्तक कीड़ा भी नहीं है पुस्तक ही केड़ा बनो तो केड़ा मर के पुस्तक बन जाएगा पुस्तक ही हो गया ना उसी प्रकार आपसे चिंतन करते करते करते बंद हो गए भिंज कीटन न्याय है ना भिंजी कीटन न्याय होता है तो किसी का तो बच्चा कर जाता है लाल लाल होता हो रहा मिट्टी का घर बना लेता है और उसे किसी का बच्चा कर जाता है लाल का जिसको लोग जाते और बाहर का नहीं होता छोटा सा छेद बार बार

अनेक संप्रदायों को उन्होंने अध्ययन किया सारे संप्रदायों का अध्ययन किया अध्ययन का करना पालन भी एक और सभी संप्रदाय का अध्ययन करके उसको पालन और ऐसी भावना कर दी है वहां तो उसकी झूठ सच भगवान जाने इन चरित्र में लिखा हुआ है कि स्तंभ पर और भी गर्व हो गया जो औरत को तो, नाम प्रकट दी थी जैसा मेरी भावना करे वैसे हम इतनी उत्कृष्ट भावना पाया हो अपने आप को गोपी मान लिया और जिनको शरीर के अंदर परिवर्तन होते होते फिर बड़ा हल्ला वाला मचा शिष्य फिर भाई ने पहले तो हम तो देख रहे थे कि श्री कृष्ण बजा के वास्तव में क्या कितना उसमें आनंद है क्या उससे भी हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में का संरचना सारी मदद बनती है तो कहानी का मतलब है कि ये सारी चीजें क्या है भावना के अधीन जिस काल में आदमी भावना से बन जाए चिंता जबस तदर्थ भावना यह चित्रकार उस अर्थ की भावना करने को तभी का काम करें तो इसलिए कहते कि देखो यशमिन काले अत्यंत ग्रहण होने के नाते ज्योति भी बुद्धि के अंदर आरोह नहीं हो सकता अतएव फिर जिस काल में आरोह होगा उस काल में उसकी शुद्ध होगी अतः सन्यासी का वर्णन करते हैं जब पर विधिशु फिर दोनों को भूतानी सर्वाणी परमार्था प्रदर्शन आत्म भूत आत्म समर्थ परमार्थ वस्तु विजानी हाँ विषाद तदे सर्वाणी ये सारे में लगे ऑब्जेक्ट में लेकर और परिसगन भूत परमात्म आत्मदर्शन दृष्टि आत्मा नहीं समृष्टि आत्मा भी नहीं परमार्थ आत्मदर्शन निर्गुण निराकार केवल विशुद्ध निष्क्रिय निष्फल आत्मा का अनुभव करने से इसे परमार्थ विशेषण की आशा कर रहा परमार्थ आत्मदर्शन सर्वात्म भाव आत्म परमार्थ तो आत्म रहा है सर्वात्म जो पूरे मंत्र में स्पष्ट कहा जाता है तब क्या हो गया परमार्थ दर्शन करने से आपको सर्वानी भूतानी तरह समस्त भूतों में अपने को देखा और सब स्वयं ही हो कठिन मुझे स्क्रीन में जितना भी चित्र है प्रत्येक चित्र में अपने को देखना और स्क्रीन ही खुद हो जाना बहुत फर्क है प्रत्येक चित्र में आप अवश्य कर लो अपने आप को तो सब आप हो ही गए विशेष है लेकिन सामान्य रूप में कभी आप सब कुछ नहीं हुए हैं जब तक अधिष्ठान भाव नहीं जाएंगे तब तक पहले तो सर्वात्मा दर्शन में समष्टि वृष्टि से उठकर आप समष्टि भाव में चले गए थे और समष्टि से भी उठ थे आप उसी सर्वात्मा भाव के आधार पर पहले सर्वेश्वर आत्मा यह सर्वेशम आत्मा था और अब सर्वमेव आत्मा तीनों आत्मा मुझे सकल उपाय अलग अलग देख रहे हैं सब उपाय में अपने आप का अनुभव कर रहे हैं उसके बाद आया सर्वेशम आत्मा ही हो गया सभी का आत्मबोध हो गया तीसरे कोटे में सर्वमेव आत्मा सब कुछ आत्मा ही अलग अलग मामला है लेकिन तो तीनों को भी सर्वात्म दर्शनीय कहते हैं इन तीनों के भी सर्वोत्कृष्ट है सर्वमेव आत्मा उसी का नाम परमार्थ आत्मदर्शन उसी दर्शन से आत्मभूत सर्वाणी होता नहीं आत्मभूत सकल होता आत्मा ही हो गई आत्म समृद्ध आत्मा ही समृद्ध कीर्ति उन्हें आत्मा ही समृद्धि है का मतलब क्या आत्मा समृद्धि द्वारा भाषित है आत्मा जो है अज्ञान के द्वारा बाधित है क्या है समृद्धि का चल अविद्या को समृद्धि के द्वारा आत्मा ही भूतों के रूप में दर्शन दे रहा है भूतों के रूप में हमें भाषित हो रहा है संवृत्या निर्वृता संवृत्ता